सूरदास विरह पदावली यशोदा विलाप कहा हो ऐसो ही मर जई हूँ लाल को कबहुक कनिया लई हो कब वह मुख बहुरो देखोंगी कब वे सो सच पई हो कब मो पे माखन मांगे रोटी धरि दईहो मिलन आसतन प्राण रहत है दिन दस मार्ग जई हो जौन सूर है ते पर जाय जमुन धस सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कहती हैं सखी क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी इस आंगन में गोपाल लाल को क्या फिर कभी गोद में लूंगी कब फिर वह मुख देखूंगी और बताओ वैसा आनंद फिर कब पाऊंगी कब श्याम मुझसे मक्खन मांगेंगे और कब रोटी पर मक्खन रख कर उन्हें दूंगी उनसे मिलने की आशा में ही मेरे शरीर में प्राण टिक रहे हैं दस दिन तक और उनका मार्ग देखूंगी यदि इतने पर भी वे नहीं आएंगे तो जाकर यमुना में डूब जाऊंगी गोपाल राय हो न चरण तज हो गोपाल राई चरण तज जई हम तुम ही छाड़ी मधुबन मेरे मोहन कहाँ जाय ब्रज लई हम गोपाल राय न चरण तज जई हम कहियो कहाँ जाय जसुमती सो कहियहु कहान जाय जसुमति सो जब सन मुख उठियई है प्रात समय दधि मथत छाणी के प्रात समय दधि मथत छाणी के काहि कले दई हों काहि कले उदय हो भयो वसुद्यो सुत गर्ग बचन परमाने गोपाल राई औल चरण तज जई हों रिपुहति काज सबय कत कीन्हों कतया कतयापदा विनाशी डारि नदियो कमल करते गिरी डारि नदियो कमल करते गिरी दबि मरते ब्रजवासी बासर संग सखा सब हे बासर संग सखा तब लीन है तेरुन धेनु चरई हो क्यों रही है मेरे प्राण दरस बिनु जब संध्या नहीं आई हो सूरत की बेदनी सूरनंद बिछूरत की बेदनी चरण तज श्री नंद जी कहते हैं गोपाल राय मैं तुम्हारे चरण छोड़कर अर्थात ब्रज नहीं जाऊंगा मेरे मोहन तुम्हें मथुरा छोड़कर ब्रज में जाकर मैं क्या लूंगा जब यशोदा उठकर मेरे सामने आएगी तब जाकर उससे क्या कहूंगा वह सवेरे के समय दही मथना छोड़कर किसे कलेहू देगी तुम्हारा यह प्रताप जाने बिना बारह वर्ष तक हमने तुम्हारे साथ धृष्टता का व्यवहार किया अब तुम गर्ग मुनि के वचनों के प्रमाण से वसुदेव जी के पुत्र प्रख्यात हो गए शत्रुओं को मारकर क्यों तुमने हमारे सब काम किए और क्यों सब विपत्तियां नष्ट की यही करना था तो पहले ही अपने कमल के समान हाथ पर से गोवर्धन पर्वत को क्यों नहीं गिरा दिया जिससे सब ब्रजवासी उसी समय दब कर मर जाते अब दिन में सखाओं को साथ लिए पुकार पुकार कर गाय नहीं चराओगे और जब वन से घर को संध्या के समय नहीं लौटोगे तब मेरे प्राण तुम्हारा दर्शन किए बिना कैसे रहेंगे सूर्यदास जी कहते हैं यह कहते कहते नंदराय की ऊर्ध्व मृत्यु समय जैसी श्वास चलने लगी चरणों की गति रुक गई नेत्रों से आंसू बहने लगे और उनकी मरणासन्न जैसी दशा हो गई श्याम सुंदर से वियुक्त होते समय नंद जी को जो वेदना हुआ हुई उसका वर्णन मुझसे नहीं हो पाता मेरे मोहन तुम ही बिना नहीं जई तुम ही बिना नहीं जय हो मेरी मोहन तुम ही बिना नहीं जय हो महरी दौरी आगे जब यही है ही बिना नहीं जई हम माखन मथी रखियो है वह है तुम हित चलो मेरे बारी निठुर भरे मधुपुरी आई के काहे असुरन मारे सुख पायो वसुदेव देव की और सुख सुमन दियो और सुख सुरन दियो यह कहत नंद गोप सखा सब विदरन चहत हियो तब माया जड़ता उपजा निठुर जदुराए जदुराये सूरनंद परमोधि पठाए निठुर ठगौ जी कह रहे हैं मेरे मोहन तुम्हारे बिना मैं ब्रज नहीं जाऊंगा ब्रज रानी जब दौड़कर आगे आएंगी तब मैं उनसे क्या कहूंगा मेरे बच्चे चलो उन्होंने तुम्हारे लिए दही मत कर मक्खन निकाल रखा होगा मथुरा आकर तो तुम निष्ठुर हो गए यदि यही करना था तो ब्रज में आए असुरों को क्यों मारा वसुदेव और देवकी ने तुमसे सुख पाया और देवताओं को भी तुमने सुख दिया तब तो पहले हमसे मोह करके हम में जड़ता विमुग्ध भाव उत्पन्न की और यादवनाथ अब निष्ठुर हो गए श्री नंद जी और सब गोप सखा यही कह रहे हैं कि अब हमारा हृदय फटना चाहता है सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर ने निष्ठुरता पूर्वक कुछ टोना सा लगाकर और नंदराज जी को आश्वासन दे उन्हें ब्रज भेज दिया hmm. नंद ही कहत हरि ब्रज जाहु नंद ही कहत हरि ब्रज जाहु कितिक मथुरा ब्रज ही अंतर hmm. जिय कहाँ पछिता नंद ही कहत हरि ब्रज जाहु कितिक मथुरा ब्रज ही अंतर जिय कहाँ पछताहु कहाँ व्याकुल हो तयति दूरी हों कहु जा भय कर जोरी ठाढ़े तुम काहे ब्रज जाओ सूर मुख यह कहत बाणी चित नहीं कहुठाओ श्याम सुंदर श्री नंद जी से कहते हैं आप ब्रज ब्रज पधारे मथुरा और ब्रज में दूरी ही कितनी है अतः मन में आप क्यों पछता रहे हैं क्यों अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं क्या मैं कहीं दूर जा रहा हूँ यह सुनकर श्री नंद राय के निष्ठुर हृदय में ज्ञान ने अपनी क्रिया की जिससे ब्रजराय ने श्याम सुंदर की बात मान ली फिर क्या था नंद जी हाथ जोड़ खड़े होकर बोले मैं तुम्हारे कहने से ब्रज जाता हूँ सूरदास जी कहते हैं कि मुख से ही वे यह बात कहते हैं किंतु उनका चित्त कहीं इस बात पर स्थिर नहीं होता चले नंद ब्रज को समुहाई गोप सखा हरि बोध पठाई सब चले यकुलाई चले नंद ब्रज को समुहाई रूप सखा हरि बोध पठाए सब चले यकुलाई काबू सुधिन रही तन की कछु लटपट लटपटात पर पाई गोकुल जात फिरत पुनि मधुबन मन तिम उतर चलाई चले नंद ब्रज को समुहाई विरह सिंधु पे परे चेत बिन ऐसे ही चले बहाई सूर श्याम बलराम छाण के ब्रज आए नियराई सूर श्याम बलराम छाड़ ब्रज आए नियराई चले नंद ब्रज को समुहाई चले नंद ब्रज को समुहाई नंद जी सबको एकत्र करके ब्रज की ओर चले श्याम सुंदर ने गोप और सखाओं को समझा कर भेजा अतः वे व्याकुल होकर चल पड़े किसी को भी अपने शरीर की कुछ सुधी नहीं रही उनके पैर लड़खड़ाते हुए पड़ रहे थे जा रहे हैं गोकुल पर बार बार मथुरा की ओर लौट पड़ते हैं क्योंकि उनका मन तो उसी ओर चला जाता है वियोग के समुद्र में बिना चेतना के पड़े हैं और इसी प्रकार बहते जा रहे हैं सूरदास जी कहते हैं श्याम बलराम को छोड़कर वे ब्रज के समीप पहुंच गए बार बार मगजोवती माता व्याकुल बिन मोहन बल भ्राता बार बार मगजोवती माता व्याकुल बिन मोहन बल भ्राता आवत देखि गोपनंद साथा विनिभयी अनाथा भाई थेनु बक्ष जो ऐसे भाई थेनु बक्ष जो ऐसे माखन बिने रहे धव कैसे ब्रज नारी हर्षित सब धाई महर जहाँ तुर आई हर्षित माता रोहनियाई हर्षित माता रोहिणियाई उर भरी हल धर ले कन्हाई देखे नंद गोप सब देखे बल मोहन को तहान पेखे आतुर मिलन काज ब्रज नारी सूर मधुपुरी रहे मुरारी सूर मधुपुरी रहे मुरारी माता यशोदा बार बार मार्ग देख रही हैं वह मोहन और उनके भाई बलराम के बिना व्याकुल हैं गोपों के साथ नंदी को दोनों बालकों के बिना आते देख वह अनाथ हो गई जैसे बछड़े के लिए गाय दौड़ती है वह उसी प्रकार दौड़ी और बोली पता नहीं मक्खन के बिना मेरे लाल इतने दिन कैसे रहे ब्रज की सब स्त्रियां भी प्रसन्न होकर दौड़ पड़ी और जहां ब्रज रानी थी वहीं शीघ्रतापूर्वक आ गई हर्षित होकर माता रोहिणी यह सोचती हुई आई कि बलराम और कन्हैया को हृदय से लगा लूं उन्होंने ब्रजराज नंद जी को देखा सब गोपों को देखा किंतु बलराम और श्याम सुंदर वहाँ दिखाई नहीं पड़े सूरदास जी कहते हैं कि जिनसे मिलने के लिए ब्रज स्त्रियाँ आतुर व्याकुल थी वे श्री मुरारी तो मथुरा ही रह गए